त कृपा के जिसोय जाते अवध अनाथन होय मन्त्री राम उठाई प्रबोधा तात धर मतु तुम सम सो दधीति हरे चन्दनरेषां सहे सुजान धर्म धरे सहे संकटनाना संकटना और कहा हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे बुद्धिमान राजा रंतदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया सत्य समान आगम निगम पुरान बखानां मैं सोई सुलभ तुलब करिपावां तजेते हो पुर अपजै सुचावां संभावित कहूं अपजै सलावूं मरण कोटि सम दारुण दारू तुम सनतात बहुत का कहूँ दिए उतर फिरे पातक वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है इस सत्यरूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयस आ जाएगा प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयस की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है हेतात मैं आपसे अधिक क्या कहूँ लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ पितु पद गहे कही कोटिनती विनय करब कर जोर चिंता कवन हु बात कहे तात करिए जनिमो आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात आप मेरी किसी बात की चिंता न करें तो मैं तो पितुसम अतिहितमो रे विनति करौ तात कर जो रे सब विधि सोई कर तव्य तुम्हारे दुखन पा सचिव संबो भयु स परिजन वलन साधो हुनि कछु लखन प्रभु कचु बि प्रभु आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं हे तात मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया सपूज राम जय सपथ देवाई लखन सदेशो कहिय जन जाए कह सुमंत्रो पुनि भूप संदेशु सहि न सकहिषिय सिय विपिन कलेशु जहि विधि अवध आव ही करलिया न तरुणि पटयव लम्बविहीना बैन जियब जिमे जल बेनु श्री रामचंद्र जी ने स्वगुत आकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमित्रा जी से सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेंगी अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती मई के ससुरे सकल सुख जब जहाँ मनुमान तह तब रह सुखे न जब लग विपति विहार सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी